आदि शक्ति ईश्वर की महती कृपा से आज हमने अच्छे कार्यों का संपादन किया अपने इस आर्यवन विकास में यह योग शिक्षण शिविर कई दिनों से चला इसका अंतिम कार्यक्रम है इसमें दूर दूर से लोग आए और हम समझते हैं कि हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा अपने आर्यवन विकास की बातें कुछ हैं जानने की एक तो अपने यहां प्राय जहां तक हम देखते हैं आप देखेंगे कि भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है पर इस बार कुछ लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई वो दुगनी के लगभग चली गई अब उनको मथुरा से आए हम कहेंगे कि चले जाओ क्योंकि ठीक रहेगा क्या है तो जब आ ही जाते हैं तो फिर तो उनको रखना ही पड़ता है पर अपने आजीवन विकास की भोजन की व्यवस्था ठीक समय पर और उचित भोजन का निर्माण होता रहता है पर ये जो कुछ आपको थोड़ी सी असुविधा हुई होगी तो इसलिए हुई है ये आपके कारण से हुई है हमारे कारण से नहीं हुई अब बुलाते हमें बुलाते हैं साठ सत्तर आ गए ये छियानवे पचानवे पता नहीं कितने थे सौ से ऊपर बताते हैं अब दुगने चले गए तो फिर भाई वो कहते आधी कटोरी दूध मिला जी अब इतना दूध कहां से आएगा फिर दुगना दूध कहां से लाएंगे तो ये हमारा भोजन का विभाग है और प्राय बहुत जगह तो होती है पर अनेक जगह ऐसा भी होता है भोजन की अच्छी व्यवस्था ठीक समय पर नहीं हो पाती और दिल्ली के लोग अपने आर्य समाज के अपने प्रधान पद पर थे पहले उन्होंने बताया आर्यवन विकास में आए वो कहने लगे देखो भोजन का प्रबंध करो तो आर्यवन विकास जैसा करो क्योंकि आपको अच्छा लगा ना मुझे तो कम से कम हाँ ये आपको खराब लगा वो आपको वहां बोलने नहीं देते तो ये तो हो सकता है वहां बात करने वाले को रोक देते हैं और ये कहेंगे देखो जी बोलने ही नहीं देते अच्छा बोलने में कई बार ग्रास फंस जाता है गले में ऐसे हाँ बोलने वाले को समस्या खड़ी हो जाती है ये भी से लाभ होता है तो ये भोजन की बात मैंने बताई एक विभाग है भोजन का और दूसरा विभाग है हमारा पठन पाठन का प्रशिक्षण का तो इसमें मेरी बुद्धि के अनुसार भारत में ऐसी संस्था कोई मेरे ध्यान में नहीं आई जिसमें इतने दर्शन पढ़ाए जाते हो इतना सिखाया जाता हो बिल्कुल विशुद्ध वैदिक भी हो क्रियात्मक भी हो सारी शंकाओं का समाधान भी हो ये सारी व्यवस्था ऐसा कहीं योग सिखाया जा, जाता हो भूगोल में मिलना मुझे तो आशा कम है इसकी विशेषताएं हैं अपनी हम यहां दर्शनों को पढ़ाते हैं दर्शनों की विद्या ऐसी विद्या आप याद रखिए कि दर्शन विद्या जहां पहुंच जाएगी वहां अज्ञान पाखंड कुरीतियां अंध परंपराएं वो सारी की सारी समाप्त कर देती है अब जिस जिस कौड़े में जिस जिस नगर में जहां जहां पर दर्शन नहीं पढ़ाए जाते वहां वहां पर आडंबर झूठ चाला की सारी चीजें चलती हैं ये विशेषता है एक और बात ध्यान में रख लीजिए विशेष रूप से विद्वानों को ध्यान में रखने की है वो कुछ लोग कम पढ़े लिखे कम समझ पाएंगे दर्शनों का अध्यापन ये जो हम यहां पढ़ाते हैं दूसरी जगह भी मिल सकता है पर विशुद्ध दर्शनों का अध्यापन कठिन है कारण कारण का पता लगाने में थोड़ा सा बौद्धिक व्यायाम करना पड़ेगा आपको छह दर्शनों के रचयिता जो ऋषि हैं वो आस्तिक कहे वेद को मानने वाले हैं ईश्वर को मानने वाले हैं पाप पुण्य को मानने वाले हैं और पुनर्जन्म को मानने वाले ये मान्यता है पर दूसरे लोगों के यहां जो दर्शन पढ़ाए जाएंगे उसमें क्या पढ़ाया जाएगा कनाद जो है वो नास्तिक है ईश्वर को नहीं मानता सांख्यकार कपिलाचार्य है वो ईश्वर को नहीं मानता नास्तिक है जैमिनी ऋषि मीमांसा के लेखक जो हैं वो नास्तिक है वहां वो दर्शन तो पढ़ाते हैं परंतु दर्शनों का अर्थ उल्टा हो गया इसलिए याद रहे आपको ये सारा परिवर्तन दिमाग बदलने वाले महर्षि दानंद हैं जिन्होंने ये उद्घोष किया था कि ये छह ऋषि दर्शनों के रचयिता सब आस्तिक हैं वेद को मानने वाले हैं ईश्वर को मानने वाले हैं इसलिए अपनी यहां पर विशुद्ध वैदिक रीति ऋषियों की परंपरा वेद के अनुरूप और महर्षि दान ने जो मार्ग दिखाया तद अनुरूप होगा एक बात याद रखिए जब हम महर्षि दान सरस्वती जी का नाम लेते हैं स्वामी दयानंद जी की बात कहने की बात हम सोचते कहते तो ये मत समझना ये स्वामी दयानंद जी की बात है मन में ये बात नहीं आनी चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी तो अपना मत कुछ भी नहीं रखते अलग स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये लेख है मत है सिद्धांत है आदि सृष्टि से लेकर के लाखों ऋषि हुए हैं और वो जो कुछ मानते थे और वेद में जो कुछ है मैं उसी को मानता हूं नहीं मेरी कोई बात नहीं इसलिए किसी के मन में यह बात नहीं आए कि स्वामी दानंद जी एक व्यक्ति थे उस व्यक्ति की बात मान रहे ऐसी बात बिल्कुल नहीं है हम भी ऐसा नहीं मानते तो स्वामी दानंद जी ने जो विशुद्ध रीति हमको सिखाई बताई हम उसी रीति से दसों को पढ़ाते हैं अधिकारियों को उन दर्शनों की जो विद्या है ऐसे पढ़ाते हैं कि अपने विषय का अधिकारी बनता है फिर वो प्रश्न का उत्तर दे सकता है अगर यदि आपने कुछ परीक्षण किया हो यहां के ब्रह्मचारियों को देखा होगा विवेक जी ने ज्ञानेश्वर जी ने एक मैं और ध्यान दिलाता हूं इनको हम आध्यात्मिक योगी ब्रह्मवेत्ता बनाने की सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए ध्यान रखा जाए इनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए क्या समझे आप या करनी चाहिए बोलो है जी करनी चाहिए हाँ तो इनको मैं ये कहूंगा तुम्हें ये कमी है वो कमी ऐसा कहूं हाँ, हाँ, दूसरों की बात सोचो मैं क्या कहूं तो मेरा मतलब यह है कि ये जो बातें आप सुनते हैं इनको इस दृष्टि से शिक्षा में नहीं देता न संबोधित करता आप बड़े विद्वान हैं बहुत योग्य बन गए हैं आप तो अद्वितीय जैसे हो गए फलाना ये करने में क्या होता है ब्रह्म विद्या के सीखने में बाधा पड़ जाती है पर आपको कुछ बताना पड़ेगा तब तो इनका वो बताना पड़ेगा जिस पर यहां खड़े वही बताना पड़ेगा फिर तो आप क्योंकि आप तो जानते नहीं इस बात को तो ये जो पढ़ाते हैं आपने देखा होगा शंकाओं का समाधान आप करते हैं अब आप शंका रखते जाइए ऐसे जटाजट जटाजट इतनी देर में आपको उत्तर मिलता चला जाए आप प्रयोग करके देख लो बम्बी जैसे नगरों में बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सामने अपने ये ब्रह्मचारी जाते हैं आप इनके प्रश्न उत्तरों को सुनकर देख लीजिए क्या योग्यता है और जब प्रवचन देंगे अपना भाषण देंगे आप सुनो एक घंटा तक एक घंटा तक सुनते चले जाइए आप ये देखिए कि ऋषि के विरुद्ध तो नहीं है कोई बात दर्शन के विरुद्ध तो नहीं है कोई बात वेद के विरुद्ध तो नहीं है प्राय मिलनी कठिन है ये तैयारियां की गई कई लोगों का दिमाग बहुत खराब है <laughs> वो तुलना में इसलिए कर रहा हूं वो कहते हैं भाइयों सुनो क्या कहते हैं प्रचार कर रहे खूब भाई आर्य विकास में तो खाते और पड़े रहते खाया और पड़े रहे पैसे की तरह और खाते रहते बीमार रहते हैं वो कहने वाले को मेरे से आज कुश्ती करवा दो जो कहते ना बीमार रहते उसको पता चल जाएगा ढूल सा फूट जाएगा पेट का और जो ये कहता ना मेरे साथ ही कुश्ती करवा दे उसकी तो और मैं कपड़े में कमजोर सा देख रहा हूं आपको <laughs> जब जब वो कच्चा उच्चा पहन के निकलूंगा तो जब पता चलेगा <laughs> विनोद की बात आ रही है तो विनोद की बात सुना देता हूं बीच में क्योंकि नहीं तो सो जाएंगे आप खाम का मेरा दिमाग खराब करोगे <laughs> सिंह में रहे चौदह वर्ष रहे वहां भी ब्रह्मचारी को तैयार करते थे पढ़ाते थे व्यायाम करते थे और एक अध्यापक थे बहुत मोटे तगड़े वो पहलवानी भी करते थे पहले तो कई बार ये लोग ऐसे ही होते कहते ये क्या ब्रह्मचारी है इनमें क्या शक्ति है क्या बोला इनके पास में ब्रह्मचारी क्या है कुछ भी नहीं कमजोर है सारे के सारे वो रोज ऐसा करते तो तगड़ा शरीर था मोटा तो खूब था तो मैं कहा अच्छा डाबू जी ऐसे करो आज मैं और आप कुश्ती करेंगे मैंने कहा कि भाई ब्रह्मचारी कमजोर है आप यही तो कहते हैं ना तो आज कुश्ती करके देख लो थोड़ी तो वो उसका तो भैसे जैसा शरीर था और मेरा शरीर था उससे कुछ पतला पर हमने ये कुश्ती भी सीखी है समझे नहीं समझे अब भी आप लोग दाव सिखा सकते हैं कैसे व्यक्ति को डाला जाता है जी तो पाकशाला में जाओ तो रोटी भी बना देंगे माता एक घमंड क्या करती है आप जैसी रोटी बना सकता हूं <laughs> हाँ कभी ये बोलती है रोटी नहीं बना सकते हाँ कहीं छोड़ दो वहीं पार जाएंगे तो वही मैं जानता था इसके यो आ गया तो ये छोड़ने वाला नहीं मुझ निकाल देगा <laughs> ये स्थिति है इसकी पर इसे बचा कैसे जाए कुश्ती में तो दाव बहुत लगते हैं तो मैंने आएगा चलो भाई वो आए सामने आए सामने मैंने लगाया दाव इसका धनाम से मारा लेकिन कहा अच्छा, दूसरी बार आओ मैंने कहा दूसरी बार धनाम आया कहते नहीं आज तक नहीं आप तो उसने दिखा दिया तमाशा ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कमजोर करता करता बस अब उसका प्रचार बंद हो गया इनका दिमाग ठिकाने लगा देंगे जो कहते यार इन विकास में पड़े रहते हैं ये करते वो करते ये बकवास करते अपने देश जाति का जहां कल्याण हो रहा हो और ये खाऊ पी लोग रहे आजीवन विकास में कुछ नहीं हो रहा बीमार रहते हैं खाते पड़े रहते हैं इनका कचूमट निकल जाएगा सबका हाँ ये नहीं तो आप थोड़ी ही हमारी बात समझ लेना ये भागेंगे पूरी तरह से तो मैं आपको सुना रहा था ब्रह्मचारी को तैयार किया जाता है अच्छा कुछ ब्रह्मचारी बुद्धि में निपुण होते हैं और शरीर से कमजोर होते हैं विवेक जी है बुद्धि में कितने नहीं सुने बताओ पर इन्हें पहला जो जीवन था ना कॉलेज वाला कॉलेज वाला वो कॉलेज वाला जीवन और वो कमजोर रहा इसलिए शरीर का निर्माण नहीं हुआ वो विश्व पे आप प्रतिभाशाली पर हम ऐसे भी पहलवान भी रखते हैं जो वो कांग्रेस सुखबीर जी हमारे ब्रह्मचारी आज भी जो कुश्ती करना चाहे ना उसका वो कोई हमारे पास में तो ब्रह्मचारी ऐसे तक कुश्ती में उठा के रख देंगे थोड़ी देर में ऐसे भी उनका अपना है सुखबीर जी ने जिन्हें हरियाणा में बहुत ऊंचा स्थान लिया है और वो भी हमारे पास तैयार है तो मैं आपको सुना रहा था अपनी यहां की जो विशेषताएं हैं वो दर्शनों का जो अध्यापन है अपना वो अपना विशुद्ध महर्षि दान के स्तर पर हो रहा था यार देखो कई बार ये दिमाग में एक बात आती है भाई संख्या बहुत थोड़ी है संख्या बहुत थोड़ी है मैं कह ये बहम है लोगों को ये भेड़ बकरी की तरह बैठा ले उनको आता जाता कुछ नहीं अच्छे योग्य व्यक्ति हो वो पांच हो बस दो भी क्यों नहीं हो महर्षि दान के सामने ऐसे तो कई वो पढ़ते थे स्वामी गुरु गिरजानंद जी से कई पढ़ते पढ़ाते थे यू तो आठ थे दस थे दो तो थे जितने भी थे पर एक ही महर्षि जान तैयार किए गए थे हम ये सोचते हैं हम संख्या पर कोई विश्वास नहीं रखते संख्या जितनी हो वो अच्छे ब्रह्मचारियों की हो बस योग्य होने चाहिए और जो योग्य नहीं है अनुशासन का पालन नहीं करते वो यदि रहेंगे तो वो सारे को बिगाड़ देंगे इसलिए अपनी यहां दर्शनों की जो परंपरा है वो विशुद्ध रूप में पढ़ाई जाती है विशुद्ध रूप में दर्शन के विद्वान तैयार किए जाते हैं देखो दूसरी बात योग की हम यहां योग सिखाते हैं और भारत के कोने कोने से लोग आते हैं परंतु याद रखना दुनिया के लोग तो योग सिखाते हैं कुछ दूसरे तीसरे ढंग से और हम योग सिखाते हैं दूसरे प्रकार से यह अंतर है हम एक तो योग के साथ कर्म को जोड़ते हैं और एक योग के साथ हमें ज्ञान को जोड़ते हैं और ईश्वर भक्ति इन तीनों को मिलाकर के हम योग सिखाते हैं ये हमारी शैली पर आप ध्यान दो बहुत कम संस्थाएं ऐसी मिलेंगी कम जगह ऐसी मिलेगी जहां पर दर्शन पढ़ाए जाते हो और साथ साथ योग सिखाया जाता हो अब थोड़ी सी रोचक घटना सुनाऊंगा सोना नहीं आप ये संप्रदाय वाले क्या करते हैं भाई योग में कान में मंत्र फूकते हैं कान में मंत्र डालते हैं और कान में मंत्र डाल देते हैं और कहते हैं भाइयों सुनो भाई बहनों को कहते तुम दूसरे को मत बताना अच्छा इसका हरियाणा के लोग तो कैसे मखोल उड़ाते हैं गुरुडम का इसका वो बोलते हैं कानाबाजी गुर तू चेलामू गुर वो हरियाणी के लोग तो ये इसकी हस्सी उड़ाते हैं ये कान में मंत्र फूटते हैं कानाबाजी गुर तू मु गुर तो ये परंपरा हम नहीं सिखाते ये जो मूर्खों की परंपरा एक माता जी ने मैंने पूछा कि आप योगाभ्यास करती हैं ध्यान करती हो कहेंगे मैं खूब करती हूं मैंने कहा कौन से मंत्र जपती हो तो कहते बता नहीं सकती मैंने कहा मैं बताऊं <laughs> हमको इनके मंत्रों का भी पता है <laughs> इनके मंत्रों का भी पता रहता है पांच है वो पांच ये जो कानावादी करो वाले थे तो वो रचा देते हैं एक वो कुमार होता है ना वो घड़ी बनाता है वो चाक को घुमा रहा और घड़ी वो कुछ बना रहा दिवाली के थे क्या थे मनिका जी आया करो सत्संग मारिए समाज कहते जी हमारा तो बेड़ा पार हो चुका है अब जाने की जरूरत नहीं है या क्यों गुरु मंत्र ले रखा उनका कौन सा बस ये नहीं बता सकते आप मुझे आप मुझे माताओं ने लिया कि गुरु मंत्र ये माताएं बहुत लेती है गुरु मंत्र और नीचे नीचे लेती है ये ये सोचती किसी को पता नहीं चल जाए और पूछो क्या लिया तो बताएंगे नहीं पढ़ाए तो अपनी यहां के योग में दुनिया के योग में बिल्कुल अंतर मिलेगा यहां बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक योग सिखाया जाता है और एक बात का और ध्यान रखना हमें केवल आंख बंद करके बैठना इतने मात्र से योग नहीं मानते हम ये कहते हैं निष्काम कर्म करो परिश्रम भी पूरा करो कर्म को साथ जोड़ते कर्म को फिर ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं हम पहले सकाम कर्म करता है व्यक्ति कीमती के लिए करता है यश के लिए करता है अच्छी बात है लौकिक व्यक्ति को करना चाहिए आप लाखों रुपया दो इस संस्था को कीर्ति के लिए दो यश के लिए दो अच्छी बात है पर हम कहते देखो भाई लौकिक फल चाहिए तो सकाम कर्म करो और ईश्वर चाहिए तो निष्काम कर्म करो ये विभाग आगे चल के हो जाता अलग तो हम जहां ध्यान सिखाते हैं वहां निष्काम कर्म सिखाते हैं इतना ही नहीं हमारे योग की सीमा याद रखिए योग का संबंध हम देश जाति धर्म वेद की रक्षा स्वतंत्रता की रक्षा के साथ जोड़ते कई लोगों के दिमाग में यह बात रहती होगी प्राया कि भाई योग सीखने वाले को देश की रक्षा नहीं करनी योग सीखने वाले को क्या चिंता है अपने देश की कुछ नहीं उनको तो योग करना है ऐसा नहीं है हम ये सकाते सभी जितने भी अपने यहां सीखने वाले आते हैं देखो व्यक्तिगत तो उन्नति करो परिवार की उन्नति करो समाज की उन्नति करो और फिर देश की उन्नति और विश्व की उन्नति ऋषि ने क्या कहा नौ महीने में प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए कई लोगों पर भ्रम है क्या है देखिए जी योगी तो स्वार्थी होते हैं अपना मत विकसित करते हैं समाधि लगाए अकेले को आनंद मिल गया सारे भूखे पड़े रहते हैं योगी स्वार्थी होते हैं हम बोलते हैं यदि योगी है तो स्वार्थी नहीं यदि स्वार्थी है तो और योगी और स्वार्थी ये दोनों एक जगह नहीं रहते फिर सुनाऊ है हाँ जी फिर से सुन लो अच्छा आप थकते तो गए हो आज प्रातः काल से खूब रगड़ा लग रहा है आप लोगों के ऊपर और कई बार यो भी सोच रहे हैं कब पीछा छोड़ेंगे ये क्योंकि दे दवा दो दवा दो दवा दो ये बच्चे देखिए आपने मां दूध पिलाती है ना जो तो भूखे नहीं होते नहीं समझिए मेरी बात झोपड़ी वाले को दूध पिलाओ आज को खा जाएगा वो इतना जल्दी दूध पिएगा उंगली आगे तो उंगली को भी चला जाएगा और ये माताओं के जो तृप्त बच्चे रहते हैं ना उनको जरूरत नहीं लाओ दूध पिलाओ दूध पिलाओ दूध पिलाओ वो बच्चा बेचारा दुखी होकर जब मां आती दिखती है तो दूध पिलाएगी ये दूध पिलाएगी और रोने लग जाता तो हमें पढ़ा पढ़ा के सुना सुना के ये कहेंगे स्वामी जी कहा ऊपर सो गए तो ठीक है नहीं तो पाठ पढ़ाएंगे शायद आकर के ये डरते हैं कि पाठ कब कब पीछा छूटेगा वो कहां गया वो वो बैठा क्यों भाई ऐसा है ना कुछ तो वो भागते रहते हैं और दूसरे ये डरते हैं घरों पर तो आठ बजे उठते होंगे कभी पता नहीं कितने बजे और यहां ये देखते हैं भाई ये कब घंटी बजाएंगे पता नहीं और डरते ही रहते हैं तो हम इनको इतना पाठ पढ़ाते हैं इनका सारा का सारा व्यवस्थित रखते हैं और ये बताना मैं चाह रहा था योगी जो व्यक्ति होगा वो स्वार्थी भी होगा और स्वार्थी जो होगा वो योगी नहीं होगा यदि योगी है तो स्वार्थी है दोनों एक जगह नहीं टक सकते हेतु कान सुनिए योगी सच्चा योगी ईश्वर के स्वभाव जैसे स्वभाव वाला होता है हाँ क्या समझिए आप सच्चा योगी ईश्वर के स्वभाव जैसे स्वभाव का होता है ईश्वर की उपासना करने से जीवात्मा का स्वभाव ईश्वर जैसा बन जाता है ईश्वर परोपकारी है सदा ही उपकार करता है कभी स्वार्थ की बात नहीं सोचता योगी भी ईश्वर जैसे स्वभाव वाला होता है जो स्वार्थी होगा वो ईश्वर के पास नहीं बैठ सकता जो ईश्वर के पास बैठेगा वो स्वार्थी नहीं रह सकता इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि योगी स्वार्थी होते हैं हम सिखाते हैं स्वार्थ की बात छोड़ दो निष्काम भावना से जो है देश का भला करो हमारे यहां ब्रह्मचारी जितने पढ़ते हैं जो कमजोर हैं उनको छोड़ दो हम ये पाठ पढ़ाते हैं सारे ब्रह्मचारियों को पढ़ो दर्शनों को उपनिषदों को वेद को और पढ़ाओ बदले में एक पैसा नहीं मांगना और मेरा भी ये व्रत है निश्चित बात कार्य करते हो मुझे कितने वर्ष हो गए पता नहीं तीस हो गए और आगे बढ़ो तो विद्यार्थी अवस्था में काम किया तो पैंतीस चालीस बजे पहुंच सकता हूं पर आज तक एक बदले की भावना से एक पैसे का काम मैंने नहीं किया कि मुझे ये एक पैसा मिलेगा इसलिए कोई काम करूं न पढ़ाई न लिखाई न प्रचार न योग न आश्रम में काम करने का हां एक हमारा अधिकार है भिक्षा मांगना क्या समझे आप मांगने का अधिकार है हमारा माताओं से कहेंगे लाओ इतने रुपये दे दो हमारा आश्रम में चाहिए ये अधिकार है हमारा वो देती है तो नहीं देती कोई गाली देती है तो कोई दे भी देती है <laughs> अच्छा एक बात है इन माताओं बड़ी इनकी प्रशंसा तो अच्छी लगती होगी आपको ये तो योगी नहीं है ना शायद अब तक नहीं इन मुझे नेक माताएं ऐसी हैं कोई हरियाणा की है तो कोई दिल्ली की होगी तो कोई नाम तो कोई फरीदाबाद है तो कोई सोनीपत है कहीं तपोवन वाला रहे है इनमें ऐसी ऐसी माताएं हैं जो कि खूब धन देती हैं और इनको रोक देते हैं हम अब मत दो देखे तो नहीं देंगे हम तो ये मैं क्या सुना रहा था पकड़ छूट गया हाँ हाँ भिक्षा मांगने की बात भूल गया मैं भिक्षा मांगने में हमारा अधिकार है बदले की भावना से काम करने का नहीं है हमसे पूछते हैं आपका दान दक्षिणा क्या होगा कहीं योग शिक्षण के लिए बुलाया कहीं प्रचार में बुलाया हमने कहा कि हमारी कोई शर्त नहीं है जो देंगे वो ले लेंगे नहीं देंगे तो कुछ नहीं मांगेंगे बाढ़ की बात तो दूर रही मन में भी नहीं सोचेंगे मैं तो मन में भी नहीं सोचता कभी मुझे क्या दिया क्या दिया वो दे दिया हिसाब के लिए कुछ करना हो तो भले नहीं मैं कभी भी मन में भी नहीं सोचता कि मुझे ये देना चाहिए था इतना नहीं दिया मन में बुरा मानना मन, मन से नहीं सोचता इसलिए ये पाठ निष्काम भावना का ब्रह्मचारी को सिखाया जाता है पूरा जोर से सिखाया जाता है और इसमें ब्रह्मचारी आगे बढ़े तो हमारे यहां भावनाएं उस निष्काम कर्म का जो प्रशिक्षण है वो इस रूप में ब्रह्मचारी को दिया जाता है आप ध्यान दो थोड़ा सा कुछ मूल्य को भी समझना चाहिए कई बार ऐसा होता है इन ब्रह्मचारियों का मूल्य आप नहीं समझ पाते तो हमको बताना पड़ता अभी वर्तमान में एक विद्वान से मैंने पूछा कि आपको हमारी ब्रह्म विकास में रख ले एक विषय को आप पढ़ाइए व्याकरण को आप क्या लेंगे क्या चाहिए आपको उसने कहा कि पैंतीस सौ रुपया और भोजन अलग है आप चार हजार पर चलिए या साढ़े चार हजार पर लगभग वो मांग है एक विद्वान की है सामान्यतया साधारणतः देख सकते हैं आप और इन ब्रह्मचारियों की मांग एक पैसा नहीं है बिल्कुल नहीं है जो आ गया दे दिया वो खा लिया आ गया वो पहन लिया ये सब कुछ भिक्षा के रूप में या दान के रूप में चलता है अब आजकल आपत्ति क्या है जो जितना पैसा ना ले उतना ही खराब दे जो पैसा ले वो अच्छा और जो पैसा नहीं ले वो खराब नहीं आप एक व्यक्ति ढाई घंटे पढ़ाएगा और छह महीने के लगभग अवकाश नहीं रहता है उसको चार हजार मिल जाएगा सरकार की ओर से और एक ब्रह्मचारी या छह आठ दस घंटे का, काम करता है सो गया तो सो गया प्रातः काल उठ के लग गया वो ब्रह्मचारी मांगता एक पैसा नहीं उस ब्रह्मचारी का या विद्वान का कोई मूल्य नहीं है यहां तो भारत में तो ये दिमाग है या नहीं बोलो है या नहीं आयुर्वेद की औषधि दे दो किसी बीमार को और वो मर, मरने की स्थिति में क्यों नहीं जा रहा हो और उसको वो जीवित कर देती हो औषधि उसका मूल्य न ले तो वो एक पैसे की भी नहीं वो औषधि जो जीवित कर देती है और एक व्यक्ति चार पैसे की औषधि का मूल्य 500 रख दे भाग भाग के ले लेंगे लोग इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा मूल्य समझाया कई लोग इनकी अस्सी उड़ाते हैं ब्रह्मचारियों की क्या कहते हैं आपको भी पता होगा आ, मैं इसलिए बताता हूं सब बातों का सबको पता हूं वो फिर पता ही ना हो तो आपको पता कैसे चले इसे साकार भी ये बातें वो लोग ये कहते हैं कि भाइयों सुनो आर्यवन विकास में तो राजकुमारों की तरह रहते हैं राजकुमारों की तरह और खाते हैं पीते हैं राजकुमारों की तरह आप याद रखना मूल्य को समझो ईसाइयों को एक विद्वान दे दो इन जैसा आपको कई कार मिलेगी उसके पास में मूल्य को समझो उस तो देखो थोड़ा सा तुलना तो करो ईसाइयों को ऐसे विद्वान दे दो आप कार पे कार इनको मिलेंगी और देश विदेश में विमान में जाएंगे यही ब्रह्मचारी और यहां टूटी साइकिल देने के लिए तैयार नहीं ये मूल्य है ये मूल्य है जी इनका तो इसलिए ये जो दिमाग जो है हमारा ये बिल्कुल स्वार्थ की ओर ले जाता है आप ध्यान देना होश में रह के बात करना यदि ब्रह्मचारियों का स्तर आध्यात्मिक नहीं है ऊंचा और आपने ये बात कह दी उनको वो आपके कट्टर विरोधी बन जाएंगे एक भी नहीं रहेगा आर्य समाज में कोई नहीं सुनना चाहता आपकी बेकार की बातें पर मैं सुनने के लिए तैयार हूं मैं सुनता हूं कितनी कह दो मुझे तो हमको तो खूब कहते हैं लोगों में खूब सुनता हूं पर मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे कोई चढ़ा करके दूर कर ही नहीं सकता वो स्वामी समर्पण जी कहते थे आर्य समाज में कई लोग बहुत खराब है इतनी गड़बड़ होगी मेरे मन में ऐसा आता है कि इस आर्य समाज को छोड़ दू मैं फिर कहते थे भाई मारिय समाज को कैसे छोड़ दू मैं स्वयं ही आर्य समाज हूं <laughs> वो कहते थे ये खराब लोग ये बहुत खराब है जीना आता है क्या को छोड़ दिया जाए तो कहते भाइयों मैं छोड़ कैसे दू मैं स्वयं ही अब मैं भी कैसे आर्य समाज को छोड़ दूंगा तो स्वयं आर्य समाज हूं मैं नहीं छोड़ सकता हां मुझे कहीं नहीं बना आर्य समाज छोड़ सकता कहीं नहीं बना छोड़ जाएगा भागेगा वो तो मैं तो इतना मजबूत हूं पर इतना याद रखो जो लोग दूसरे संप्रदाय के दूसरे उससे आए वो यदि शुद्ध हो गए आपने ये बात कह दी या ब्रह्मचारी को कह दी तो वो नहीं रही आपके पास कोई भी कि ये खाने पीने के लिए रहते ये कहते कि ये दूध घी खाने के लिए आए दिल्ली हरियाणा से ये लोग कहते हैं यहां पर आर्य विद्राज में दूध घी खाने के लिए आए आप वहां नहीं मिलता था इनको अच्छा भाई और राजकुमारों की तरह रहते हैं मैंने कहा क्यों विनाश करते आर्य समाज का ये ब्रह्मचारी बुद्धिमान है ये ये मान लेंगे ये लोग योग्य नहीं है इनसे दूर हो जाएंगे दूसरी जगह चले जाएंगे क्या बात है कुछ भी नहीं ये चिड़ाने की भाषा बोल रहे हो आप पहले देखो आपका बेटा यदि ऐसा विद्वान होता यहां आता तो आप क्या करते इसके लिए दिमाग से सोचो क्या सोचते आप उसके लिए आज क्या सोचते आप उसके लिए क्या मूल्य उस ब्रह्मचारी का दंडात लगा रहता कुछ लेता नहीं है उसका मूल्य कुछ भी नहीं समझा जा रहा इसलिए बंधुओं यहां जो ब्रह्मचारी पढ़ते हैं जो तैयार हो रहे हैं या काम करते हैं उनका मूल्य समझो माताएं श्रद्धा रखती है ये जितनी माताएं बैठी ना इनमें से कितनी माताएं इनको लगभग अपने पुत्र के तरह समझती है तभी इन ब्रह्मचारियों की श्रद्धा बनी हुई है ये समझते ही हमारी मां है हमारे पिता है तो इनकी श्रद्धा परिवार की तरह चलते हैं हम और ये परिवार का विच्छेद कर दो कहते ये तो वैसे ही ये बेकार के लोग हैं यू ही घूमा करते हैं इनका क्या मूल्य है तो देखो ऐसा व्यवहार कभी मत करना जो आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो तो सहन कर लेंगे यदि जो लौकिक व्यक्ति है कोई सहन नहीं करेगा तो इसलिए मैंने आपको बताई बात निष्काम भावना हम उनको पढ़ाते हमारा इतना ही क्षेत्र नहीं है केवल योग सिखा के ठहर जाओ हम तो ये मानते हैं इनमें से जो योगी बनेगा उसको योगी बनाएंगे और जो ब्राह्मण बनेगा उसको ब्राह्मण बनाएंगे और जो नहीं बनेगा उसको क्षत्रिय बना देंगे दूसरे नंबर पाएगा और जो क्षत्रिय भी नहीं बनेगा तो कल्याण जी भाई बना देंगे <laughs> क्या करेगा वो वो धन देगा हाँ, नियत ये, ये ना हमारे खूब धन देते तीसरे नंबर पर आएगा और तीन में से कोई नंबर ना आए तो कौन बनेगा वो बनाएंगे नहीं उसको वो बन जाएगा कौन बनेगा वो वो बन जाएगा तो शूद्र बनाएंगे नहीं वो रह जाएगा तो शूद्र तो हम तो ये दृष्टि रखते हैं इसलिए हम लंगड़े में काम नहीं करते केवल योग की बात सिखा दो केवल उसको काट दो आगे हम तो कहते जो जब ब्राह्मण बन सकता है ऋषिदास बन सकता है वो बने तो जब महाराणा प्रताप बनो चंद्रशेखर बनो दूसरे नंबर पर तीसरे वो भामाशाह की कथा आती है वो बन जाओ और वह चौथा बना फावड़ा लो और खेत को फाड़ो मिट्टी डालो वहां से लीलगिरी काट दी <laughs> पानी दे दिया वो अपना काम करेगा वो तो हम तो ऐसे तैयार करते तो देखो ये हमारा आर्यवन विकास का कार्य याद रखना सर्वानुपूर्ण चलता है और चलता रहे पर इतनी बात याद रखो आगे हम रहेंगे गोली हमारे सीने पर लगेगी पीछे से तैयारी के लिए आप वो देते हुए ना सामग्री जानते हो नहीं जानते एक सैनिक ने बताया फौजी ने कहने देखो जी फौज की व्यवस्था क्या है एक व्यक्ति जो गोली चलाता है शत्रु के सामने उसके पीछे पंद्रह सोलह व्यक्ति होते हैं तो वो गोली चलाता है तो हम तो विद्या की गोली चलाएंगे सत्य की गोली चलाएंगे अज्ञान को खत्म करेंगे अन्याय को खत्म करेंगे पीछे की सामग्री आप देते जाओ बोलो आप क्या करो क्यों जी तैयार होना हम उसी के गोली हम चलाएंगे स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब वो भयंकर अवस्था आई कि देखो अंग्रेज लोगों औरों को छोड़ो मुझ पर गोली मारो पहले चांदनी चौक में तो गोली दवा खाएंगे आप पीछे भाग जाना चाहे हाँ अब तो डरो मत डरने की बात हम डरने की बात सोचते नहीं योगा वैसी व्यक्ति डरता नहीं है मरना जीना क्या है शरीर को छोड़ना है एक गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी में बैठ लेंगे तो देखिए ये हमारी व्यवस्था है अब समय बहुत हो गया नहीं तो कितना सुनाऊ आप वही कहेंगे हम तो उपग्रेव छोड़ते नहीं स्वामी जी <laughs> तो ये अब इसमें ध्यान देना हम उद्घोष करते हैं भूगोल में मानव निर्माण विशुद्ध योग विशुद्ध वैदिक दर्शन का अध्यापन मानव निर्माण की प्रक्रिया मेरी बुद्धि में अब तक कोई ऐसा स्थान नहीं आया ओट में हो वो तो छोड़ दीजिए जो आयुर्वेद विकास में जो मानव निर्माण है वो कहीं नहीं भूगोल में अब तक दृष्टि में नहीं आया कोई माने नहीं माने कोई पक्षपाती व्यक्ति माने नहीं माने हो रहा है और आप सहयोग देते रहो और ये काम करेंगे बल्कि मेरी योजना अपने पत्रकार आए हुए हैं आज उन्होंने बहुत सी बातें पूछते गए लिखते गए पूछते गए पूछ डाली हमने भी उत्तर देते गए आगे वही थक जाए तो हम आम नहीं थकते तो योजना पूछी तो मैंने कहा भाई सुनो योजना मेरी यह है कि भारत में कम से कम दो विद्यालय एक एक प्रांत में एक माताओं का प्रौढ़ लड़कियों का विदुषी योगिनी गार्गी बनाने के लिए झांसी की रानी बनाने के लिए और एक दो दो दो दो, दो विद्यालय तो होनी चाहिए और एक विद्यालय के लिए दस लाख रुपया खर्च कर इकट्ठा कर दो उससे जो आए हो ब्याज आएगा वो दस ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारियों को पढ़ाएंगे ऐसे सारे भारत में दो दो विद्यालय इतनी मेरी लंबी जोड़ी योजना है अब आप देख लो कितनी पूरी करोगे हाँ एक करोड़ रुपया इकट्ठा कर लो तो दस विद्यालय हम चलाएंगे और सौ को तैयार करोगे तो दो चार पांच मिलेंगे यानी कि सौ के सौ बन जाएंगे और बस ये काम हमारा काम है अब कर लो जो कुछ करना है कल पता नहीं क्या होगा वो भूकंप आया था ना काशी में उत्तर काशी में सुना याद रख लो ये कोठी वोठी कुछ नहीं रहेगा इतनी देर लगेगी दान वान देना हो ना तो लिखवा दो <laughs> हाँ फंसताओगे मेरे गड़गड़ाहट होगी क्या होगा भूकंप हाय आज दे देते तो दे ही देते हाँ अब लिखा दे जो लिखवाना हो हाँ नहीं तो पछताओगे फिर पीछे हाँ तो ये काम करना है जल्दी करो देखिए अपने देश को अपने धर्म को वेद को मिटाने के लिए तो करोड़ों लोग लग रहे और अपने देश को धर्म को वेद को बचाने के लिए हम मुट्ठी भर लोग और हम ही ढीले ढाले जब इतनी डीजे डाले हम हैं तो कैसे काम चलेगा ये काम ऐसे नहीं चल सकता आप तीव्र गति से चलिए देखिए आपने सुना होगा बड़े बड़े संप्रदाय हैं जो विमानों में चलते हैं अपने पास में विमान है बताते हैं जहां तक मैंने सुना है करोड़ों की अरबों रुपए की संपत्ति उनके पास में है अपने यहां बहुत थोड़े से साधन है बहुत थोड़े से लोग हैं और ये भी ढीले डाले तो इसलिए हमको तीव्र गति से चलना चाहिए और तनबंधन से कर लो दिमाग बना लो वेद के शब्दों में अश्वथ्यो निषदनम